और याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया बेशक मैं एक बशर को पैदा फरमाने वाला हूं सड़े हुए गारी की बजने वाली मिट्टी से